प्रतिष्ठिता मनो मे वासी प्रतिष्ठितम् एक आत्मा ही था यहां से आरंभ किया फिर लोगों की सृष्टि लोकपाल की सृष्टि और लोकपाल के प्रार्थना पर शरीर की सृष्टि अन्न की सृष्टि सारी सृष्टि बताई और स्वयं भी इस शरीर में प्रविष्ट हुआ प्रविष्ट होने के बाद जिस शरीर में प्रविष्ट हो उसी शरीर से अपना परिचय देने लगा किंतु कालांतर में गुरु कृपा से उसको परमार्थ बोध हो जाता है तो अपने को ब्रह्म भाव से प्राप्त किया इदम ब्रह्म कथम अपश्यत आदर्शम इतनी ऐसा यहां तक चर्चा हो गई माने अध्यारोप और अपवाद दोनों लगा दिया आरोप करके लाया बाद में अपवाद ब्रह्म रूप में देखा क्योंकि विचार दृष्टि से देखने पर जो वस्तु जिससे होता है वो वस्तु उसे अतिरिक्त तो होता नहीं है मिट्टी से घट होता है तो विचार दृष्टि से देखने पर एक भावना दृष्टि है धर्म किंतु विचार दृष्टि से देखेंगे वैचारिक दृष्टि से मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता यही होता है अपवाद यहां अध्यारोप क्यों करना पड़ता है श्रुति को या अपवादी है कालांतर में जाकर के एक परमात्मा रूप में सिद्ध करना है तो फिर बीच में सृष्टि की चर्चा क्यों एक प्रश्न उठता है तो इसलिए है कि सामने वालों ने सृष्टि की मान्यता दे रखी है सृष्टि है करके बैठा है उसको नहीं है कहेंगे तो मानेगा नहीं विश्वास नहीं करेगा हाँ भाई है ऐसा उसके बातों को मान लेना है तो कहां से है वहां से है और जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं निषेध करने पर अन्यत्र वस्तु होने की संभावना नहीं है नहीं तो अन्यत्र होने की संभावना हो सकती है हाँ, यहां नहीं है ज्ञानास्ति चिंतन इस ब्रह्म में नहीं है किंतु तो अन्यत्र होगा ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती यही से उत्पन्न है मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ है ऐसी मान्यता बनाई हुई है तो घट नहीं है कहने पर एकाएक नहीं मानेगा सामने वालों की मान्यता है घट अतिरिक्त वस्तु ऐसी मान्यता है मिट्टी अलग है घट अलग है ऐसी मान्यता है उसके मान्यता को अनुमोदन कर देना से उसका खुश होगा उसके मान्यता को अनुमोदन करना घट है किंतु देखो किससे बना है किस में बना है ये मिट्टी में बना है फिर बाद में विचार दृष्टि से देखने पर मिट्टी से में घट का निषेध हो जाएगा हाँ घट नाम के कोई वस्तु नहीं मिलता मिट्टी ही मिलती है तो जिसमें पैदा हुआ है उसी में निषेध करने पर अन्यत्र होने की संभावना नहीं होती है ये वेदांत की प्रक्रिया यही है जो जीव है अज्ञानी जीव है जगत को जगत की मान्यता है उनके सामने जगत है करके बैठे हुए हैं तो उसके एकाएक नहीं है कहने पर मानेंगे नहीं तो हाँ है किंतु कहां से उत्पन्न हुआ कोई वस्तु है तो उत्पत्ति दिखानी होगी ना तो सृष्टि के पहले परमात्मा ही था भाई तो उससे ही उत्पन्न हुआ है जैसे मिट्टी में घट बनता है उस पर परमात्मा ने जगत बना ये स्थिति आ गई फिर बाद में परमात्मा रूप में दिखाएंगे जब कार्य को कारण से विचार करेंगे तो कारण से कार्य भिन्न होता नहीं है कहीं भी जैसे मिट्टी और घट है तो घट को अगर विचार दृष्टि से देखें तो वृत्ति से अतिरिक्त नहीं जब विचार दृष्टि से देखने पर अपवाद हो जाता है अपवाद यही है अपवाद अपवाद दृष्टि से देखने पर निषेध हो जाता है देखिए रज्जु में सर्प दिखता है किंतु वहां पर अपवाद क्या होगा कि रज्जु रूप से देखना उसको वस्तु स्थिति में अधिष्ठान को देखना रज्जु रूप से अगर देखेगा तो सर्प गायब हो जाएगा जब रज्जु रूप से नहीं दिखता है तो सर्प दिखता है तो रज्जु रूप से देखेगा सर्प गायब है अपवाद हो जाएगा पहले आरोप था रज्जु में सर्प का आरोप था अज्ञान के कारण से किंतु अब अपवाद काल में जब अधिष्ठान रूप में देखेगा व्यक्ति विचार से तो स्थिति में वो वस्तु आरोपित वस्तु गायब हो जाता है इस प्रकार जगत उसके दृष्टि से गायब हो जाता है जब आत्मदृष्टि में पहुंचेगा तो ब्रह्म तदम अपश्यत करके वहां तक चर्चा हो गई अध्यारोप किया था उसका अपवाद भी हो गया अब शेष क्या रह गया विचार करना चाहते हैं उसी परमात्मा को दृढ़ करना है यह शंका आ सकती कई प्रकार की शंका आ सकती है कोई वस्तु की सृष्टि होने के लिए व्यक्ति को अपने से भिन्न कोई साधन की आवश्यकता होती है वो परमात्मा अकेला ही था तो कोई साधन नहीं था कैसे सृष्टि किया होगा एक दूसरा जहां कुछ बनता है सवय वस्तु में बनता हुआ देखा है परमात्मा निरवय है वो कैसे बना होगा जो सृष्टि बनी तो परमात्मा कैसे सृष्टि रूप में आया होगा कई प्रकार की चर्चा है होनी है अभी शंकाएं कई प्रकार की आएगी वो शंकाएं रहते हैं अभी द्वितीय अध्याय ये बोलना चाहते हैं ठीक है हमें कहते हैं अश्विन अध्याय आत्मिकत्व लोक लोकपाल सृष्टि असमाया पिपाशा संयोजन आदि नाम बहुनाम अर्थानाम उत्तत्वा सर्वेशा अभी विवक्षितत्व शंका वारणा विवक्षितम आत्मा है वास्तव में जो कुछ कहा गया कही गई सृष्टि के बारे में इसमें तात्पर्य नहीं है तात्पर्य है परमात्मा का ज्ञान कराने में तात्पर्य है ये बोलना चाहिए अश्विन अध्याय हम इस किस अध्याय में थे उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय में थे आरण्य क्रम से देखते हैं तो चतुर्थ अध्याय में थे ऐतरे आरण्य के चतुर्थ पंचम ष्ठ तीन अध्याय ऐतरे उपनिषद है तो आरण्य क्रम से देखने पर चतुर्थ अध्याय है जिसको हमने अभी पढ़ा किंतु तो उपनिषद क्रम से देखते हैं तो प्रथम अध्याय आरण्य क्रम से दिखाना चाहते हैं अश्विन अध्याय इस अध्याय मैंने पूर्व अध्याय की सिंहावलोकन युक्ति है जब जंगल में शेर जब चलता है थोड़ा सा चलता है फिर पीछे ऐसा थोड़ा मोड़ के देखता है देखता है कि कुछ खतरा तो नहीं है पीछे क्या है वैसे पीछे हमने क्या कहा उसको थोड़ा देखना चाहते हैं यहां से पीछे कितने बातें हो गई उसके संदर्भ लगा के आगे बात करनी है इसके लिए अश्विन अध्याय माने उपनिषद क्रम में प्रथम अध्याय है और आरण्य क्रम से चतुर्थ अध्याय है इस अध्याय में आत्मिकत्व सृष्टि के पूर्व में आत्मा वही एक अग्रे आश्रित नान्य के मिश्र ऐसा कहा एक ही आत्मा कहा गया था शुरू में यहां से आरंभ हुआ था आत्मिकत्व आपकी आत्मा की एकता बताई सबसे पहले आत्मा एक ही है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा इस अध्याय अब हुआ पहले की बात से बताते हैं और उसके बाद में स लोकांश सृजय स इक्षता लोकांश लोक की सृष्टि बताई सबसे पहले तो आत्मा की एकता दिखाई आत्मा वही इधम एक आग्रह आशित नान्यत किंकर्मशन उसके पश्चात लोक की सृष्टि बताई उसके बाद लोकपालों की सृष्टि बताई ये कहते हैं सबसे पहले आत्मा में एकत्व दिखाया आत्मा वही इधम एक आग्रह आशित उसके बाद स इक्षता लोकान सृजयी थी स ईमान लोकान असृजता अम्भो थी मारा मापा इत्यादि बोला था लोगों की सृष्टि की कहा उसके बाद लोकपाल की सृष्टि लोकपाल की सृष्टि के लिए पहले इंद्रियों की सृष्टि उसके बाद लोकपाल की सृष्टि बताई और फिर असराया पिपास संयोजनादिराम हाँ। फिर बाद में उनको भूख प्यास से जोड़ दिया उस पिंड को जल से एक पिंड निकाला गया था जल माने जल प्रधान पंचभूतों से निकाला था विराट शरीर उसको भूख प्यास से युक्त कर दिया ऐसा आया असराया पिपाशा पिपासा संयोजनादिराम बहुनाम अर्थानाम उतर बहुत सारे अर्थ कहा यहां बहुत सारे विषय बताया तो गत अध्याय में उपतत्वाद सर्वेशा अभी विवक्षित शंकावाद और सामने वाले जो सुनने वाले श्रोता के माने सबसे सब विवक्षित है तात्पर्य है इसमें ये जो सृष्टि आदि हुई है इसमें तात्पर्य मानने की तैयारी में होगा सामने वाला श्रोता इसके लिए कहते नहीं यहां विवक्षित अर्थ ये नहीं है माने ये लोक आदि की सृष्टि कहना विवक्षित नहीं है ये न के न प्रकार उस अद्वितीय आत्मा का बोध कराना इष्ट है विवक्षित अर्थ वह है ये बदलाना है इस अध्याय का तात्पर्य ये सृष्टि आदि में तात्पर्य नहीं है तात्पर्य अन्यत्र है कभी कभी वाक्य कुछ बोला जाता है अर्थ कुछ आता है जैसे विषम मुंगसो बोल दिया जाता है घर में माता अपने बच्चे को कहती है जार खा ले वास्तव में उसका तात्पर्य जार खिलाने में नहीं है वो क्या करता था शत्रु के घर में जाता था वो लड़का पड़ोस में शत्रु का घर तो शत्रु के घर में जाने को रोकने के लिए कहा माने जहर खाने के उस इष्ट नहीं मां को बच्चा जहर खा जाए बोल दिया विषम मुख से जहर खा माने वहां जाने की अपेक्षा ये माने वहां न जा ये कहने में तात्पर्य होता है तात्पर्य अन्यत्र होता है शब्द का किंतु कहीं भी शब्द से जो शब्द ज्ञान प्राप्त करना हो पहले हम शब्द सुनते हैं फिर पद पदार्थ को मिला करके शाब्द ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे शाब्द ज्ञान में चार कारण होते हैं आकांक्षा सन्निधि योग्यता और तात्पर्य नैयायिकों ने तीन ही माना है आकांक्षा योग्यता सन्निधि किंतु तो वेदांति तात्पर्य को भी मानते हैं तात्पर्य भी कारण होता है जैसे साइंधवम आनय कोई बोलता हो सिंधु में होने वाले को साइंधव कहते हैं सिंधु देश में जो उत्पन्न होता हो उसको सैंधव कहा जाता है सिंधु माने समुद्र सिंधु देश सिंधु देश में जो पैदा होगा सैंधव बोलते हैं उसको सिंधु देश में घोड़े जो अरबी घोड़े आदि बोलते हैं वो सिंधु देश वाले घोड़े माने जाते हैं वो भी सैंधव है एक सिंधा नमक होता है नमक को भी सैंधव बोलते हैं सिंधु में होता है वो समुद्र से होता है सामुद्री नमक सैंधव है वो तो सैंधवम आनय कोई बोलता हो प्रसंग कहाँ है वो भोजन का समय बोला है या यात्रा के समय बोला है उस वक्ता का तात्पर्य समझना पड़ेगा श्रोता को संदक दो अर्थ वाला शब्द है घोड़े का वाचक भी होता है नमक का वाचक भी होता है तो सैंधवम आनय किसी वक्ता ने बोल दिया अनाप्तवक्ता की बात है वक्ता है बोलने वाला तो श्रोता वहां पर उसका तात्पर्य समझ के अर्थ करना होगा भोजन के समय में आ रहे करके बोला हो कहीं घोड़ा ला रख दे नहीं होगा यात्रा के समय है आ रहे कहा होगा नमक ले जाके रख दे नहीं वो वक्ता का तात्पर्य अन्यत्र है भोजन के समय माने नमक के लिए बोला है सैंधव श्रोता को ऐसा समझना पड़ता है तात्पर्य क्योंकि वक्ता केवल शब्द देता है अर्थ निकालना सब श्रोता का काम है हमेशा ही होता है ज्यादा ज्यादा पर्यायवाचक शब्द देगा घट शब्द बोला समझ नहीं आया तो कलश बोल देना और क्या बोल सकता है वो वक्ता के पास क्या है अर्थ श्रोता को अपने ही वो पदार्थ की शक्ति कहाँ है उसके आधार पर अर्थ निकालता है वो तो ये वाक्यार्थ ज्ञान में योग्य आकांक्षा सन्निधि योग्यता तात्पर्य ये भी कारण होते हैं तो ये आत्मा भाई इदमे का अग्रे आशित आदि जो वाक्य है सारे वाक्य हमने पढ़ा एक अध्याय पढ़ा इसका तात्पर्य समझना पड़ेगा इस सृष्टि आदि में तात्पर्य नहीं है श्रुति का कहना उसमें तात्पर्य नहीं है तत्परता श्रुति की सृष्टि में नहीं है एन के न प्रकार उस निर्वय निरंजन आत्मा का ज्ञान कराना है किसी भी प्रकार इसको आत्मज्ञान हो जाए आत्मस्मृति प्राप्त हो जाए इसमें तात्पर्य होता है ये कहना चाह रहे हैं अश्विन अध्याय अश्विन अध्याय माने जिस अध्याय में हम पढ़ रहे थे प्रथम अध्याय उपनिषद क्रम से और आरण्य क्रम से चतुर्थ अध्याय है अस्मिन अध्याय आत्मिकत्व माने क्या क्या बातें कही सबसे पहले आत्मा की एकता दिखाई है आत्मा वही एकदम एक अग्रे आशित नान्य के जन्म सब यहीं से मंत्र आरंभ हुआ था उसके बाद लोक की सृष्टि बताई हाँ, सलोकान असृजता लोगों की सृष्टि की ईमान लोकान असृजता वाक्य आया हाँ, अम्भो मरीजी मरा मापा इत्यादि बोला अच्छा फिर लोकपाल की सृष्टि बताई इंद्रिय सृष्टि पूर्वक फिर उस उनको भूख प्यास से जोड़ दिया कहा भूख प्यास की सृष्टि बताई उन इत्यादि बहु नाम अर्थानाम उत्तर बहुत सारे विषय बताया गया है अभी आपको तो पता नहीं होगा अभी यहां पर भाष्य टीका में दिखाएंगे क्या क्या बताया पूरा खुल के दिखाएंगे पूरा दिखा देंगे कितना हो गया है पीछे तो सर्वेशा अभी विवक्षित शंका ऐसी शंका होगी किसी के मन की वास्तविकता है सब बातें सृष्टि भी वास्तविक है लोकपाल की सृष्टि जो कुछ सृष्टि वास्तविक है ऐसा कोई समझना चाह समझता हो तो उसके विवक्षित विवक्षित तो शंका को वारण करने के लिए विवक्षितम अर्थ इस अध्याय का तात्पर्य क्या है विवक्षित क्या है स्मृति को कहना इष्ट क्या है वो बताना चाहते हैं ये भाष्य में कहते हैं अश्विन चतुर्थे अध्याय का चौथा अध्याय माने उपनिषद क्रम तो हम प्रथम अध्याय में है किंतु आरण्य क्रम से चतुर्थ अध्याय हो रहा है ऐतरे आरण्य का चतुर्थ अध्याय शुरू है वृद्धारण्य को ऐसे ही चलता है कभी कभी उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय बोल देंगे कभी कभी आरण्य क्रम से बोल देंगे वहां प्रथम अध्याय हो जाता वहां तृतीय अध्याय हो जाता आरण्य क्रम से दो अध्याय पहले जा चुके हैं ऐसे वृद्धारण्य में ऐसी शैली है तो यहाँ चतुर्थ अध्याय करके बोल रहे हैं मैंने आरण्य क्रम से बोला उपनिषद क्रम से तो प्रथम अध्याय जो हमने पढ़ा अस्मिन चतुर्थ अध्याय इस चतुर्थ अध्याय में माने ऐतरे आरण्य के हिसाब से चतुर्थ अध्याय होता है इसमें ये सब वाक्यार्थ ये वाक्यार्थ निकला क्या निकला जगत उत्पत्ति ही जगत की उत्पत्ति बताई जगत की सृष्टि बताई जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत संसारी असंसारी सर्वज्ञ सर्व यही वाक्य का अर्थ यही है ये सारे करने वाला एक आत्मा है तो संसारी आत्मा है कहा जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला जगत की उत्पन्न करने वाला रक्षा करने वाला नाश करने वाला तीनों जगत की सृष्टि स्थिति लय वाला हाँ, लयकृत असंसारी संसारी ने असंसारी परमात्मा एक है वो सर्वज्ञ है सर्वम जाना सर्वज्ञ सामान्य रूप से सबको जानने वाले को सर्वज्ञ बोलते हैं और सर्वशक्ति सर्वहा सत्तया यशमिन सा सर्वशक्ति सारी शक्ति जिसमें है कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ऐसी शक्ति है उसके पास सर्वशक्ति ही सर्वविद मैं विशेष रूप से सबको जानता है इसे सर्वविद कोई भी वस्तु हम पहले सामान्य रूप में जानते हैं बाद में विशेष रूप से जानते हैं जो भगवत गीता सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान बोलते हैं ऐसे होता दो प्रकार सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान सामने कोई वस्तु आएगा पहले जैसे एक एक मनुष्य है सामान्य हमको ज्ञान हो रहा किंतु क्या है क्या नाम है क्या गांव है हमको पता नहीं होता क्या स्वभाव है बाद में हम विशेष रूप से जानते हैं हर वस्तु में ऐसे होता है सामान्य और विशेष दो प्रकार का ज्ञान होता है पहले एकाएक जो वस्तु सामने होगा सामान्य ज्ञान होगा जैसे घट सामने दिखा अयम घट ज्ञान हो गया आपको सामान्य ज्ञान है अब वो पानी चूता है या ठीक है कैसा है सांस नीचे कैसा ऊपर कैसा पूरे टटोल के देखे विशेष ज्ञान होगा काम का है कि नहीं है कोई भी वस्तु में एकाएक विशेष ज्ञान नहीं होता पहले सामान्य ज्ञान होता है बाद में विशेष होता है तो सामान्य रूप से सबको जानता है इसलिए सर्वज्ञ और विशेष रूप से सबको जानता है तो सर्वविद जो दोनों विशेषण आने पर यही अर्थ करते हैं सर्वज्ञ और सर्वविद एक एक आएगा तो एक ही बात है दोनों आने पर ऐसा अर्थ निकालते हैं तो इस चतुर्थ अध्याय में यही अर्थ है जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला जगत उत्पन्न करने वाला रक्षा करने वाला नाश करने वाला एक संसारी तत्व है जिसको ईश्वर बोलते हैं आत्मा बोलते हैं ब्रह्म बोलते हैं संसारी है संसारी नहीं वो सर्वज्ञ है हाँ सर्वम सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ इसी प्रकार सर्वशक्ति सर्वाह सत्ता या यशमिन सारी शक्ति जिसमें है कुछ भी कर सकता है वो तो कार्य से ही पता लगता है क्या क्या शक्ति उसके पास है इतनी बड़ी धरती को एकदम हिला देता है ऐसी शक्ति है उसमें कुछ भी कर सकता है सर्वविद सब सबको विशेष रूप से जानने वाला सर्वम इदम जगत सबको जानता है सो तो अन्य वस्तुअरम अनुपादाया आकाश न सर्वम इदम जगत सृष्टवा ये सारे जगत की सृष्टि करके कहते हैं कैसे सृष्टि किया उसने कहते हैं स्वतो अन्य वस्तुअरम अनुपाद है स्वयं है बाकी कोई नहीं अन्य वस्तु कोई भी नहीं है अन्य वस्तु के लिए भी हाँ वर्तमान में हम लोगों से कोई कार्य कराना हो हमें वस्तुअंतर चाहिए कोई मटेरियल देंगे तो आप कुछ काम कर सकते हैं किंतु ऐसा नहीं क्यों आत्मा भाई एक अग्रे एवा एकमेवादित एकम एवं नाजत किंचन सद ऐसा है अन्य वस्तु थे ही ना वहां तो सर्वम जगत ये इदम सर्वम जगत ये सारी जगत सृष्टि किया कैसे किया तो स्वयं से अन्य वस्तुतरम अनुपादा एवं अन्य वस्तु लिए बिना ही ग्रहण किए बिना ही माने साधन कोई भी साधन नहीं उस काल में अकेला ही हो वो भी निर्वय है कैसे जगत बनाया होगा वो सावेव भी नहीं है निर्वैव है विचार करने लगे तो बहुत गहराई भी जा सकता है ये सर्वम जगत स्वतो अन्य वस्तंत्र अनुवाद आएगा आकाश अधिक्रम शिष्टा ये जो सारे जगत बनाया है आकाश अधिक्रम से सबसे पहले आकाश फिर वायु फिर तेज फिर जल फिर पृथ्वी इत्यादि करके बनाया है क्रमेगा सृष्टा अन्य कोई साधन के बिना ही बनाया हुआ है सृष्ट करके स्वात्म बोधार्थम सर्वाणी के प्राणात्मा शरीराम स्वयं और अपना ज्ञान कराने के लिए अपना परिचय देने के लिए अपना स्वरूप बताने के लिए क्या किया जितने भी प्राणधारी थे सब में प्रवेश किया हुआ यहां आने पर भी ज्ञान उपाय तो क्या है क्या है पता ही नहीं लगेगा अहम अहम रूप से पता लग जाता है अयम रूप से पता लगता है इसलिए अपना ज्ञान कराने के लिए परिचय देने के लिए कहा जगत सृष्टि करके जगत में आ गया शरीर भी आ गया इसलिए स्वात्म बोधार्थम अपने स्वरूप का बोध ज्ञान कराने के लिए आत्मा का ज्ञान हो अपना स्वरूप का ज्ञान हो क्योंकि शुरू में आत्मा ही था वही यह स्व शब्द से आत्मा आएगा उसके अपने ज्ञान कराने के लिए सर्वाणी के प्राणादि में शरीर जितने प्राणधारी शरीर हैं स्वयं प्रवेश सारे शरीर शरीर दिव्यांग है सारे शरीरों में प्रविष्ट हुआ स्वयं प्रवेश कर गया वो आत्मा मटेरियल के बिना ही जगत बनाया जगत में सारे शरीर आदि भी आ गए और शरीर आदि बनाने के बाद में फिर प्रवेश हुआ किसके लिए अपना स्वरूप ज्ञान कर प्रकट कराने के लिए यहीं होने पर ही जान सकता है कोई व्यक्ति नहीं तो नहीं जानता यहां आने पर ही जान सकता है नहीं तो बाहर में परोक्ष रहेगा पता ही नहीं लगेगा इतने किया और प्रविश्य और प्रवेश करने के बाद क्या काम किया प्रवेश किया चलो तो प्रविश्य प्राणी के शरीर में प्रवेश करके स्वात्मान यथाभूतम इदम ब्रह्मास्मृति साक्षात प्रतिबद्ध प्रवेश होने के बाद में उस काल तो मोह में पड़ गया वो शरीर रूप से अपने को परिणित करने लगा मैं मनुष्य हूं आदि में आया कालांतर में जब गुरु कृपा उसके ऊपर हो गई होने पर यह स्थिति आ गया यथाभूतम इदम जैसा स्वरूप है यथाभूतम का अर्थ करते हैं शोधितम तुम अर्थम ये जो तोम तोम पद यहां आने के बाद तोम हुआ था वो तत् था तब तक यहां आया तो तोम हो गया है वही तत्व वशी जब तक बाहर था तो तत्पद का वाच्य था यहां आया तो तोम पद का वाच्य हो गया है उसको शोधित करने पर लक्ष्यार्थ में यही कहते हैं यथाभूतम मैंने जैसा इसका स्वरूप था पहले वो बनेगा बीच में बिगड़ गया था हाँ, शरीर आदि में एकता करके क्रांति से बिगड़ा हुआ था यथाभूतम शोधितम तुम अर्थम चिन्हमात्र में कहा यथाभूतम इधम जो चिन्हमात्र स्वरूप है अपना ब्रह्मास्मि थी साक्षात प्रत्युत्य था अहम ब्रह्मास्मि साक्षात उसको ज्ञान हो गया माने किसी इंद्रियों के बिना ज्ञान हो गया घट साक्षात होता है अपरोक्ष होता है किंतु साक्षात अपरोक्ष नहीं है बीच में व्यवधान है इंद्रिया आदि के व्यवधान है हमारे लिए क्यों हमारा संबंध सबसे पहले बुद्धि के साथ और बुद्धि का संबंध मन के साथ मन का संबंध इंद्रिय के साथ इंद्रिय के साथ संबंध शरीर के साथ आगे विषय के साथ ऐसा धारा लगता है तो साक्षात संबंध नहीं हो पाता साक्षात संबंध अपने लिए कोई अन्य संबंध है साक्षात माने किसी अन्य के बिना ही जो ज्ञान हो साक्षात होता है साक्षात ये कहा अम ब्रह्माष्टमी ऐसा ज्ञान को प्राप्त कर गया शोधित करने के बाद और शोधित अवस्था में तो शरीर भाव से अपना परिचय दे रहा था मैं मनुष्य हूं कह रहा था अर्थ काल में लक्ष्यार्थ काल में जब तुम पदार्थ का शोधन किया मैं कौन हूं क्या हूं या हाड़ पुतलाई हूं अलग हूं विचार करते करते करते शोधित किया उसने तो वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ में चला गया उस काल में अपने को वही सृष्टि के पहले जो स्वरूप था वही स्वरूप को प्राप्त किया यहां आने यहां आया हुआ व्यक्ति ने तो सृष्टिकर्ता ये एक ही है जिसने सृष्टि किया वही प्रवेश किया है हाँ। तो प्रवेश करता जो प्रवेश किया था जिसने तो उसको बीच में मोह हो गया था शरीर आदि के भ्रांति से संयुक्त में चला बाद में जब शोधित किया अपना स्वरूप को तो लक्ष्यार्थ में परम से प्राप्त किया जग गया हो अपने स्वरूप में पहुंचा ये कहा तस्मात सएव सर्व शरीर से इसलिए सृष्टि के पूर्व में एक ही आत्मा है तो अभी भी सारे शरीर में वही एक ही आत्मा है यह निर्णय बना रहा इस अध्याय ये निर्णय हुआ है गताध्याय में निर्णय हुआ है तस्मात सएव वही जो सृष्टि के पूर्व में आत्मा वही में एक अग्रे आशित नान्य किंचन में सत्य यह है वह निर्वय माने स्वगत भेद भी नहीं सजातीय भेद नहीं विजातीय भेद नहीं दूसरे आत्मा था ही नहीं वही सएव सर्व शरीर सु सारे शरीरों में केवल मनुष्य शरीर नहीं प्राणी मात्र के शरीर सारे शरीर एक एव आत्मा नान्य यही इस अध्याय का तात्पर्य निकलता है अभी तक जो हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष यही होता है तात्पर्य यही होता है एक ही आत्मा अन्य नहीं अन्यो भी केवल यही ऋग्वेदीय परिषद की बात यह नहीं अन्य वेदों में भी यही चर्चा है अन्यो भी तो मंत्र ऐसे ही बोलता है अन्य अन्य वेदों में जाओ आप ऐसे ही मिलेगा जैसे यहां अभी चर्चा की सभी का तात्पर्य है कि स्मृति का तात्पर्य उसी आत्मा के एकत्व बताने में तात्पर्य होता है सर्वत्र अन्यो भी अन्य वेद में भी जितनी स्मृतियां हैं ऐसे अर्थ करती है समय आत्मा मैं स आत्मा मेरी आत्मा वही है जो सृष्टि के पहले था वही आत्मा है ये दूसरे नहीं मैं जीव नहीं हूं सब आत्मा अहम ब्रह्मास्मि वृद्धार्थ में कहा है हाँ, अहम को ब्रह्म रूप से देखा उसने मैंने शोधित अवस्था में सब तीनों शरीरों से अप, अपने को अलग किया पहले तो शरीर भाव में आ गया था मैं मनुष्य हूं कहने लगा तो तीनों शरीर से जब छाणबीन करके अलग देखा ये मैं नहीं हूं अलग किया लक्ष्यार्थ में पहुंच गया अहम ब्रह्मास्मि नहीं ब्रह्म हूं क्यों सृष्टि के पूर्व में ब्रह्म ही था तो वही ब्रह्म प्रविष्ट हुआ हाँ तो वही है वही मैं हूं अन्य नहीं ऐसे बाहर में पहुंचा और यदि एवं विद्यात ऐसा आया कहीं इस प्रकार जाने ऐसा आया इत्यादि में आया है कहा और आत्मा वही इधम एक एवं अग्रे आशीर्षांतों की बात है आत्मा ही था इसके पूर्व में अच्छा यह की बात है आत्मा भाई एक अग्रे आश्रित नान्य के यहां से आरंभ हुआ है और उपसंहार किया है ब्रह्म ततम ततमम इति च उत्तम माने उपक्रम में आत्मा शब्द आया था उस आत्मा को ला करके अभी ब्रह्म ततम पाश्चित ब्रह्म शब्द से घोषित कर दिया उसी ब्रह्म को देखा ब्रह्म रूप में देखा आपने को जीव रूप में देखा ऐसा यहां कहा है इस मंत्र में यही यहां पर इस अध्याय का तात्पर्य निकला हुआ है अन्यत्र अन्य शाखाओं में भी ये तो ऐतरी शाखा की बात है अन्यत्र माने अन्य शाखा वेद की जितनी शाखाएं हैं सारे शाखाओं में उपनिषद भाग में यही मिलना है अन्यत्र जब अन्य शाखाओं में भी क्या होगा यही बातें बताई है तो आत्मा से शुरू करते हैं और आत्मा में ले जाकर के समापन करते हैं उपसंहार और उपक्रम और उपसंहार को देखते हुए एक ही आत्मा है अन्य कोई है ही नहीं ये सिद्ध होता है अब पूर्वादि की शंका होगी या कई शंकाएं आ सकती है इस विषय में आत्मा जगत की सृष्टि करना आत्मा का प्रवेश होना ये सब घट सकता है कि नहीं घट सकता है क्योंकि आजकल विज्ञान का युग है बहुत का लोगों के मन में शंकाएं आ सकती हैं ये पुरानी बातें हैं बोल दिए बोल दिए घटता नहीं है हम्म। हमें भी ऐसे लगता है देखते हैं विचार करते हैं क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है शंका सर्वगत से सर्वात्मनो बालाग्र मात्र अप्रविष्टम नास्ती एक शंका यह है आत्मा सर्वगत है व्यापक है सर्वगत से और सर्वरूप है वो सर्वगत है सर्वरूप है सर्वात्मा है सर्वरूप है जो नहीं है ऐसा कोई है ही नहीं पहले से विद्यमान है सर्वरूप है और सर्वगत है व्यापक है बालाग्र मात्र अपनी अप्रविष्ट केश के अग्र भाग जितना भाग भी कहीं नहीं है वो प्रविष्ट नहीं हुआ हो तो व्यापक है ना सर्वत्र है तो कैसे प्रवेश करेगा वो आत्मा कोई परिचिन्न वस्तु छोटा हो तो कहीं दूसरे स्थानांतर में प्रवेश कर रहा इसके स्थानांतर है नहीं सर्वत्र है और सर्व वस्तु दूसरे व्यक्ति दूसरे में प्रवेश करता है जो दूसरा भी वही है सर्वात्मा बना हुआ है और सर्वत्र है कैसे प्रवेश होगा आत्मा का शंकाएं आती है जो विवेकी लोग हैं शंका आती है सर्वगत सर्वात्मनो जो सर्वगत है सर्वत्र व्याप्त है जो आत्मा और सर्वरूप है अन्य व्यक्ति अन्य में प्रवेश करता है तो यहां जहां प्रवेश करना वो भी वही है सर्वात्मा बन के बैठा है सर्वरूप है और जो प्रवेश करने वाले के लिए दूसरा स्थान है ही नहीं सर्वत्र पहले से बैठा हुआ है कैसे प्रवेश करेगा परिचिन्न वस्तु में होता है एक वस्तु दूसरे में प्रवेश करता है या ऐसा नहीं सर्वगत से सर्वात्मनो बालाग्र मात्र मती ज्यादा क्या जगह पहुंचे बाल के अग्रभाग बहुत नोकीला होता है उतना जगह भी कहीं आई ने प्रवेश करने के लिए खाली आई ना उसके वो सर्वगत है भिन्न वस्तु भी नहीं है अप्रविष्टम नास्ती अप्रविष्ट देश कोई है ही नहीं सर्वत्र पहले से पाए तो कैसे प्रवेश करेगा वो एक शंका कथम सीमानम विदार्य था फिर ये मुर्दा को फाड़ करके कैसे आ सकता है वो सर्वत्र है पहले से ही है वो तो तो कैसे आएगा जहां आना है वहां पहले ही है वो कैसे आएगा एक शंका हाँ प्राप्त पिपिलिका इव सुशीराम जैसे चीटी छिद्र में घुसती है क्यों वो परिचिन्न है जिसमें घुसना पहले नहीं थी चीटी वहां छिद्र में नहीं थी और छिद्र भिन्न वस्तु है उससे तो इसका तो हो जाता है परिचिन्न वो भी परिचिन्न ये भी परिचिन्न चीटी के क्षेत्र में जाना हो सकता है कि वो परिचिन्न है आत्मा विभु है व्यापक है जहां जाना है वहां भी पहले ही है वो पहले से है और जिसमें जाना वो वस्तु में भी वही है वो वस्तु वही है तो फिर आत्मा का प्रवेश कैसे हो सकता है स्मृति क्या भांग पी करके बोल रही है या सत्य बोल रही है तो प्रवेश बात ये तो एतया सीमा एतम एवं सीमान विदारी एतया द्वारा प्राप्त जते वाक्य आया हुआ है इसी मुर्गा को भेदन फाड़ करके हाँ, और फाड़ना भी निर्भय में आत्मा फाड़ सकता ही नहीं विचार आएगा फाड़ने के लिए सावध वस्तु चाहिए तो फाड़ेगा मुर्दा को फाड़ना है तो वो भी फाड़ सकते वो भी बहुत सारे विचार हैं बहुत सारे विचार चलेंगे अच्छा टीका से देखें अभी बहुत सारे शंकाएं हैं फिर उत्तर अगर भाष्यकार दे सके देंगे नहीं दे सके तो कोई बात तो बाद की बात है पहले शंकाएं रखेंगे टीका देखिए सर्वेशु अपनी शरीरेशु एक आत्मा सैव परमेश्वर इति बक्षमाण होता है ये है तो भाष्य में लिखा था <laughs> ये सर सर्वेशु हाँ। ऐसा शब्द है ना ऐसा ये तत्त शब्द का अर्थ यही है यहाँ सर्वेशु अभी शरीर सारे शरीरों में जो चौरासी लाख योनि है सभी शरीरों में एक एवं आत्मा एक ही आत्मा है भिन्न आत्मा ने अनेक आत्मा ने एक ही आत्मा है यही सएव परमेश्वर जो आत्मा या सर्वी शरीर हो वही परमेश्वर है परमेश्वर अन्य नहीं आत्मा से यदि बक्षमाण अर्थ जो आगे कहेंगे यही है ये तत् शब्दार्थ जो ए सब में आया हुआ ये तत् शब्द का अर्थ यही होता है कहा अच्छा वाक्य अर्थ अश्वेश चतुर्थ अध्याय ऐसा अर्थ में वाक्य अर्थ कहते हैं क्या है विवक्षित विशेष विवक्षित वाक्य अर्थ क्या है विचार करना है श्रुति को क्या अविष्ट है बतलाना क्या अविष्ट है ये सृष्टि आदि बताना अविष्ट है अथवा नहीं सृष्टि की चर्चा हुई है उसमें तात्पर्य कहाँ है ये देखना होगा विवक्षित शेष ये कहा विवक्षित यही अर्थ विवक्षित है इसमें कहा प्रथम अयमेव अर्थो विवक्षित आशंक्य पूर्व संदर्भ या इत्या ये इस चतुर्थ अध्याय में एक ही आत्मा है ये ये वाक्यर्थ ये सिद्ध होना है कैसे पता लगेगा कहते पूर्व के जो संदर्भ देखते हैं तो ये पता लगता है ये सिद्धांत क्या है प्रथम कथम ये अयमेव अर्थ विवक्षित ये शंका हो गई यही अर्थ विवक्षित कैसे है तो उत्तर देते हैं पूर्व संदर्भ पर्यालोचन है पूर्व के जो संदर्भ था उसको देखने से विचार करने से अर्थ निकलता है ये कहा जगत इत्यादि कहा क्यों जगत आदि की उत्पत्ति के बारे में चर्चा हुई है पूर्व में जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीर्थ असंसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वविद सर्वम इदम जगत स्वतो अन्य वस्तुतर अनुपादा एवं आकाशातिक्रमण सृष्टवा स्वात्मबोधार्थम सर्वाणी च प्राणान्वय शरणानी स्वयं प्रतिवेश इत्यादि वाक्य है कहते हैं यद्यपि टीका में कहा यद्यपि लोकादि सृष्टिया अन्न सृष्टिया से उत्पत्ति स्थिति बोलते यद्यपि यहां पर प्रलय की चर्चा नहीं हुई है लोकादि की सृष्टि तो बताई सृष्टि कही और अन्नादि की सृष्टि से उनकी स्थिति की बात हो गई अन्ना अन्न सृष्टि किसी के लिए वो की स्थिति तो सृष्टि और स्थिति दो तो कहा भाषक में लिख दिया है प्रलय भी लिखा हुआ है प्रलय की चर्चा तो नहीं है दो ही होनी चाहिए यहाँ के जो दो ही उत्पत्ति बताई है एक यद्यपि लोकादि सृष्टि सृष्टवा अन्न सृष्टि आता लोकादि सृष्टि अन्न से दो सृष्टि का ही लोकान्न सृजता और अन्न अस्थिरता दो दो है दो सृष्टि करने से उत्पत्ति स्थिति है बहुत दो ही बताई गई है उत्पत्ति और स्थिति का ही कथन हुआ है लय की चर्चा नहीं है फिर भी तथा भी उत्पत्ति स्थिति उगत्या अर्थात प्रलय भी उगता प्राय जब उत्पत्ति और स्थिति बताई है तो अर्थ से प्रलय भी आ गया ये समझना ये कहा तीनों करने वाला ये कहा यदि प्रलयकृत यदि उत्तम इसलिए प्रलयकृत भाष्यकार ने लिख दिया लोकपालादि नाम एवं भोक्तृत्व उक्तिया असंसारी उत्तम लोकपाल को ही भोक्ता कहा यहां क्यों भूख प्यास आदि से जोड़ दिया था उस पिंड को और लोकपालों ने अन्न की मांग की थी हम शरीर दो हम जिसमें बैठ के अन्न खा सके ऐसा कहा था तो उनके लिए गाय आदि शरीर लागे दिया जो भी किया तो उसके बाद अन्न सृष्टि की फिर वो खाने लगे इत्यादि जो भी है तो ये कहने से क्या लोकपाल आदि नाम एक भोक्तृत्व होती है यहां लोकपाल आदि को भोक्ता बताया इसलिए क्या सिद्ध हुआ आत्मा असंसारी है विसिद्ध हो गया कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव वाला तो असंसारी होता है ये भी आत्मा असंसारी सिद्ध कर दिया क्यों भोक्तृत्व धर्म लोकपाल में दिखाया है मंत्रों में आत्मा में है दिखाया सामान्यतः सर्वम जानाती इति सर्वज्ञ सर्वज्ञ और सर्वविद में क्या अंतर होगा भाष्य में सर्वज्ञ शब्द दिया है सर्वविज्ञ सामान्य रूप से सबको जानता है इसलिए वो सर्वज्ञ कहा हम देखिए सामान्य रूप से हम सबको जानते हैं पंचभूत सभी में है सामान्य सब पंचभूत के बने हुए सारे संसार में जितने भी होते हैं हम सबको जानते हैं किस रूप से पंचभूत रूप से जानते विशेष नहीं जानते सामान्य ज्ञान सामान्य न सर्वम जाना थी सर्वज्ञान सामान्य में विशेष रूप से भी जानता है वो ये कहते हैं विशेषतः सर्व प्रकार भी सर्व व्यक्ति सर्वव्यक्ति विशेष रूप से भी जानता है परमात्मा हर वस्तु में सामान्य रूप से भी ज्ञान है विशेष रूप से भी ज्ञान है इसलिए सर्वज्ञ भी है और सर्वविद भी है वो सृष्टवा इति अनंतरम भाष्य में था सृष्टवा स्वात्मबोधार्थम आदि बोलना सृष्टवा के आगे क्या कहना इति अंत्य नाम सृष्टा इति अंत है ना सृष्टा तक जो वाक्य भाष्य में सृष्टा पद दिया है वहां तक के वाक्य के द्वारा जगत तत्कार्य जगत क्या हुआ उसका कार्य सिद्ध हो गया उसने सृष्टि की है तो उसका कार्य है जगत सृष्टा इति अंत है ना सृष्टा तक वाक्य के द्वारा इसे दिया जगत परमात्मा का आत्मा का कार्य है जगत तत्कार्यवाद तद व्यतिरिक्त नास्ती उत्तर सृष्टा कह दिया तो सिद्ध हो गया जिससे जो कार्य होता है उससे वो भिन्न नहीं होता मिट्टी से घट कार्य होता है घट मिट्टी से अतिरिक्त नहीं ये सिद्ध हो जाता है रज्जु से सर्प पैदा होता है तो सर्प रज्जु से भिन्न है ही नहीं इसी प्रकार आत्मा ही था आत्मा से जगत पैदा हुआ कहा है तो वो जगत आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं विचार दृष्टि से देखने पर तो आत्मा ही है अतिथि ये तो भावना दृष्टि है जगत क्यों भावना क्यों है इस व्यक्ति को अलग अलग भाव से हम देखते हैं हमारी भावना के ऊपर खड़ा है किसी का शत्रु भाव होगा किसी का मित्र भाव होगा एक ही व्यक्ति में हम अनेक रिश्ता लगाते हैं वो रिश्ता हमारी भावना है कोई पिता बोलता है कोई पुत्र बोलता है ये तो हमारी सृष्टि है अपने अपने ढंग की सृष्टि है दृष्टि सृष्टि बाद है जैसे देखा वैसा बोला वस्तु भाई ने वास्तव में है वास्तविक अधिष्ठान है वह अधिष्ठान है उसी में हम भिन्न भिन्न तरह से बोल रहे हैं अगर ये व्यक्ति शत्रु है तो सबके लिए शत्रु होना चाहिए दूसरा व्यक्ति का मित्र है ये अशत्रु है कि मित्र है ये भावना हमारी भावना जैसे व्यवहार भावना के ऊपर टिका हुआ वास्तविकता के ऊपर नहीं है वास्तविकता अधिष्ठान अधिष्ठान दृष्टि में जाने पर भावना दृष्टि समाप्त हो जाती है तो परमात्मा से जगत बनना भावना दृष्टि है किंतु जब क्या वस्तु से बना है देखने पर वो वस्तु से अतिरिक्त है ही नहीं यही कह रहे हैं सृष्टवा इति अंत ना सृष्टवा तक की बातों के द्वारा जगत तत्कार्यवा जगत उस परमात्मा का कार्य परमात्मा ने सृष्टि किया कार्यवाद तत् व्यतिरेक नास्ती परमात्मा से अतिरिक्त रूप से जगत की सत्ता नहीं अधिष्ठान से अतिरिक्त से आरोप की सत्ता नहीं होती है मिट्टी से मिट्टी घट का अधिष्ठान है मिट्टी से अतिरिक्त रूप से घट की सत्ता नहीं है मिट्टी निकाले तो घट नाम की वस्तु नहीं मिलेगा इसी प्रकार जगत नाम की वस्तु मिलने वाला नहीं है आत्मा से अतिरिक्त रूप से आत्म रूप से देखेंगे तो जगत है कारण रूप में कार्य बैठा है कारण कारण रूप में अपने रूप से नहीं हो एक कहा जगत तद व्यतिगत नास्ती था प्रत्येक आत्मा तद अभेदम आहा आत्मा में जगत का अभेद दिखाया तद अभेदम दो की टिप्पणी ईश्वर तो अभेद सृष्टा जो ईश्वर है ना उसमें अभेद दिखाया जगत का कार्य का अभेद कारण कारण तो कार्य से भिन्न होता है किंतु कार्य जो होगा कारण से भिन्न नहीं हो सकता बात यह है वेदांत में ऐसा बोलते हैं कार्य कारण कार्य जो होगा कारण से भिन्न हो ही नहीं सकता क्यों अगर मिट्टी से घट भिन्न हो तो मिट्टी के न रहने पर भी घट की सत्ता होनी चाहिए भिन्न वस्तु भिन्न के नाश होने पर भिन्न वस्तु नहीं होता गाय के मरने से भैंस मरती नहीं भिन्न में ऐसा होता है अगर मिट्टी से घट भिन्न हो तो मिट्टी के न रहने पर भी घट को रहना चाहिए रहता कि नहीं रहता नहीं रह सकता भिन्न किंतु मिट्टी घट से भिन्न है घट के अभाव काल में मिट्टी होती है घट को फोड़ो मिट्टी का अभाव नहीं होता ऐसी स्थिति है कारण से कार्य जो होगा भिन्न नहीं होता वो कारण रूपी होता है किंतु कारण जो होगा कार्य से भिन्न होता है कार्य के अभाव काल में भी कारण रहता है माने परमात्मा से भिन्न जगत हो तो परमात्मा के बिना दिखना चाहिए नहीं दिखता किंतु जगत के बिना परमात्मा दिखता है ऐसी स्थिति हो जाती है स्वात्म इत्यादि कहा स्वात्म बोधार्थम सर्वाणी प्राणिवत शरीरानी स्वयं प्रवेश सृष्टि करके फिर उसमें प्रवेश भी स्वयं किया क्यों अपने ज्ञान कराने के लिए अपने ज्ञान कराने के लिए नहीं तो उसका आत्मज्ञान आत्मरूप से ज्ञान होना है हाँ। सृष्टिकर्ता रूप से ज्ञान हो गया कोई फल नहीं होगा परोक्ष ज्ञान से लाभ नहीं है अपरोक्ष ज्ञान से लाभ होना है इसलिए प्रवेश भी किया कहा अपने ज्ञान कराने के लिए टीका में कहते न केवल हम प्रवेश उगते आए तद अवैध जो केवल प्रवेश कहने मात्र से ही जीव और ईश्वर का अभेद नहीं समझना तद किंतु तद अभेद ज्ञान उपदेश उनका अभेद ज्ञान भी बताया क्यों ब्रह्म तत्म अपश्चत इदम अदर्शम ऐसा अभेद ज्ञान बताया अपरोक्ष रूप से मैंने अपने स्वरूप को देखा ऐसे कहा वाक्य के अंतिम मंत्र के अंतिम में भी आया केवल अभेद ज्ञान मात्र नहीं कहा अभेद ज्ञान के अभेद ज्ञान है ज्ञान उपदेश अवैध ज्ञान भी बताया अब जीवेश्वर के परमात्मा भेद भी नहीं अभेद मात्र नहीं बताया वही प्रवेश किया करने से प्रवेश माने ये शरीर बनाने वाला और प्रवेश करने वाला एक ही सिद्ध हुआ वह तो प्रत्यय जो लगता है एक ही कर्ता के लिए होता है समान करते हुए का एक ही कर्ता को दो क्रिया करनी हो पूर्वापर क्रिया करनी हो उसमें एक त्वा प्रत्यय लगाते हैं हिंदी में करके बोलते हैं ये करके ये करता है बोलते हैं या त्वा करके बोलते हैं या त्वा प्रत्यय प्राविशक ये बताया अभेद भी बता दिया ये आगे आगे प्रविष्यत भाषण का प्रविष्यत स्वात्मान यथाभूतम इदम की साक्षात प्रतिबद्ध जब प्रवेश किया कुछ काल तो मोहित हो गया आदि भाव से अपने को पाया उसके बाद फिर अपने स्वरूप में आया वो जब इसने विवेचन करने लगा विवेचन किया अपना स्वरूप शरीरों से अलग किया फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से अपना शरीर को अलग कर पाया लक्ष्यार्थ में गया पहले बाच्यार्थ में था ये बाद में लक्ष्यार्थ में बाच्यार्थ में क्या स्थिति होती है जैसे जीव जीव बोलते हैं ना कभी शरीर के लिए बोला जाएगा अयम मनुष्य वो जीव को लेकर मनुष्य शब्द का वाचक होना है कभी कभी जब उसका स्वर्गवास हो गया बोलते हैं स्वर्गवास शरीर का हुआ है या जीव का हुआ है जब स्वर्गवास बोलते हैं शरीर को लिए वहां मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं करते अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया अरे अब वो अमुक व्यक्ति करके शरीर नहीं ले रहे आत्मा में गए पहले शरीर में थे व्यवहार में अमुक व्यक्ति माने शरीर होता है और जब मृत्यु काल में बोलेंगे स्वर्गवास हो गया अमुक महात्मा ब्रह्मलीन हो गए ऐसा बोलते हैं तो उस काल में शरीर को लेकर नहीं बोलते शरीर ब्रह्मलीन नहीं होता वो यहीं रह जाता हाँ गृहस्थों का भी शरीर स्वर्गवास नहीं होता वो यहीं रह जाता किंतु जीव को लेकर बोलते हैं अवाच्यार्थ जीव होता है किंतु उसी को जब शुद्धि करेंगे तो लक्ष्यार्थ में पहुंचेगा रक्षार्थ हो जाएगा ऐसा हो जाता है एक <clears throat> प्रविश्य प्रविश्य इत्यादि बता दिया आगे टीका में कहते हैं यस्मात सर्व शरीर एक प्रवेश होता सारे शरीर में एक ही प्रवेश हुआ है जितने भी शरीर हैं सब में एक ही है सुनी चाहिए सुपाक है सुख पंडिता समदर्शी सब में एक ही आत्मा देखने वाला पंडित होता है बाकी पंडित नहीं होता विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभ्यस्तिनी सुनी सुपा के पंडित समदर्शिना सारे शरीर में आत्मा में एक ही आत्मा है कोई भेद नहीं होता विचार दृष्टि से जाने पर ये सारे ब्राह्मण आदि जितने भी व्यवहार दृष्टि की बात है तो व्यवहार में चल रहा है अगर परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो ब्राह्मण का शरीर और चांडाल का शरीर में भेद नहीं वो भी पंचभूत का है भी पंचभूत का है समान है और आत्मा एक ही आत्मा प्रविष्ट है भेद होता ही है परमात्मा दृष्टि ऐसी बोलते ये समदृष्टि में जाना तो इस तरह से देखना होगा व्यवहार में विषम दृष्टि है समदृष्टि में व्यवहार हो ही नहीं सकता हाँ विषम दृष्टि है समदृष्टि के लिए ऐसा है वही पंडित होता है विवेकी वही है बाकी सब मूर्ख है भेद दृष्टि वाले ऐसा ये गीता है मैं नहीं बोल रहा हूं गीता के पंचम अध्याय कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण के व्यस्त नहीं सुनी चाहिए सुपाठ चाहे पंडितासन उन्हीं को पंडित कहा पंडित माने क्या होता है कह पंडितासन सत असत विवेक सत असत को विवेक करने वाले को पंडित बोलते हैं सत पदार्थ क्या है असत पदार्थ क्या है मिट करे वो पंडित होता है ऐसी स्थिति <clears throat> एक यस्मात सर्व शरीर एक में प्रवेश होता है एक ही आत्मा का प्रवेश बताए सर्वत्र यह नहीं कि ब्राह्मण के शरीर में अलग आत्मा हो और शूद्र के शरीर में अलग आत्मा है कुत्ते के शरीर में अलग आत्मा नहीं है एक ही आत्मा है यस्मात प्रविष्ट से ब्रह्मतया ज्ञान उत्तम जो प्रविष्ट हुआ व्यक्ति को ब्रह्म रूप से ज्ञान हुआ हम्म। मैं मनुष्य हूं ऐसा ज्ञान नहीं हुआ मैं ब्राह्मण आदि हूं ऐसा ज्ञान नहीं हुआ मैं ब्रह्म हूं ज्ञान हुआ है क्यों ब्रह्म ततम अपश्यत इदम अदर्शम यदि मंत्र आया अंतिम मंत्र यही था उसका तो अपने को ब्रह्म भाव से देखा जो सृष्टि के पूर्व में जो स्वरूप था वही स्वरूप में देखा आपने को ऐसा आया तो यस्मात प्रविष्ट से ब्रह्मतया ज्ञान उत्तम ब्रह्म रूप से ज्ञान बताया कहा तस्मात सर्वेशु शरीरेशु एक आत्मा सर्व सारे शरीर में एक ही आत्मा है सिद्ध हुआ इस प्रकार का तात्पर्य आया सच सर्वज्ञ ईश्वर है वो जो आत्मा है सभी शरीरों में वो सर्वज्ञ है और ईश्वर है तो सर्वज्ञ है ईश्वर है एवं नान्य अन्य नहीं इति ऐसा वाक्यार्थ विवक्षित इस अध्याय के वाक्यार्थ यही विवक्षित हुआ है तात्पर्य निष्कर्ष निकला है निचोड़ सारांश इस अध्याय का निकला है यदि पूर्व अन्वय पूर्व के साथ संबंध करना कहा अन्यत्र भी कहा है अन्यो भी करके बोला था समय आत्मा विद्या इत्यादि संगीतों संगीतोपनिषद वाक्य शेष होती समय आत्मा विद्या वह मेरी आत्मा है ऐसा जाने समय आत्मा इति विद्या ये मेरी आत्मा वह है जो सृष्टि के पूर्व में जो आत्मा था वही आत्मा मेरी आत्मा है ये मनुष्य मेरी आत्मा नहीं है ऐसा जाने इति संगीतोपनिषद गत वाक्य शेष भी संगीता उपनिषद में आया वाक्य है इसके भी शेष भी एकदम एवं अर्थम आया इसी अर्थ को पता है जो यहां निष्कर्ष निकला यह आरण्यक में संगीता में भी ऐसे आया तैतरी में संगीता भी आरण्यक में संगीता में ऐसे आया है समय आत्मा इति विद्या वो मेरी आत्मा है जो सृष्टि के पूर्व की आत्मा वही आत्मा मेरी आत्मा है ये ये मेरी आत्मा नहीं है ये शरीर आदि ऐसा कहा तो वही अर्थ बताया वहां का अन्यो भी कहा संहिता उपनिषद में भी कहा ये कहा सर्वभूतेश एक ही करना हाँ। समगार्थ सभी भूतों में एक ऐसा स इक्षता इत्यादि संदर्भ संदर्भात अयम अर्थ प्रतीयते हैं स इक्षता यहां से आरंभ हुआ है माने उसने इच्छा की लोकानुसृजय इत्यादि आएगा तो यही अर्थ प्रतीत होता है कि उत्तम पूर्व ऐसा कहा पूर्व इधानीम उपक्रम उपसंगाराभ्याम भी ऐसा एवं अर्थ या उपसंग उपक्रम था आत्मा वही इधम एक अग्रे आशी और उपसंगार हुआ है ब्रह्म तत्म अपश्यत इदम अदर्शम इति तो उपक्रम उपसंहार जब आ गया तो बीच में कोई बातें आए तो उसकी मान्यता नहीं होती है प्रसंग कहां से आरंभ हुआ कहां जाके समापन होता है आदि अंत तो न सहित तो आप लगाना जानते हैं जब आदि और अंत से बीच में पकड़े जाएंगे तो उपक्रम उपसंहार के द्वारा भी षडलिंग तात्पर्य में एक तात्पर्य है वेदांत के तात्पर्य निकालने के लिंग है षडलिंगों में एक लिंग है वेदांत के तात्पर्य निर्णय करने में लिंग होता है उपक्रम आत्मा से हुआ है आत्मा वही से अंत में ब्रह्म तत्व अपश्यत ब्रह्म भाव में आया है ये कहते हैं उपक्रम उपसंहाराभ्याम अभी ऐसा एवं अर्थ प्रतीयत है उपक्रम और उपसंहार को दे यही अर्थ आता है एक ही आत्मा है अन्य आत्मा नहीं ये सिद्ध होता है इसलिए कहा आत्मा भाई इदम एक अग्रे आशीत यहां से उपक्रम हुआ आरंभ हुआ ये उपनिषद और ब्रह्म तत्म इति जो उत्तम ब्रह्म तत्म अपश्यत इदम अदर्शम इति यहां जाके समापन हुआ है इसके लिए भी यही है और अन्यत्र भी कहा यही बात है सारे उपनिषद की बात एक ही है एक ही परमात्मा से शुरू करना है अंतिम में परमात्मा भाव में पहुंचाना है सारे अध्यारोप और अपवाद उसे परमात्मा से सारे आरोप दिखाना फिर अपवाद करके परमात्मा में पहुंचाना तो वेदांत की शैली यही है अध्यारोपा अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच निष्प्रपंच ब्रह्म प्रपंच रहित ब्रह्म है निर्विकार है फिर भी प्रपंच किया जाता है आरोप करके आरोप लगाएंगे फिर अवपात करेंगे एक प्रक्रिया है तो कहते हैं सदैव सौम्य गमग्रे आशित इत्यादि और तदेत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अवायम अनंतरम इत्यादि है वृद्धार्मिक वो ये छांदो भी है सदैव सौम्य इत्यादि इनमें भी इत्यादो अद्वित्व यहां भी अद्वितीय आत्मा ही बताया चाहे छांदो के देखें चाहे वृद्धार्मिक देखें आप अद्वितीय आत्मा की चर्चा है दूसरा कुछ भी नहीं है एक ही आत्मा क्या सदैव सौम्य कुमारी आशिक शांत होकर में कहा वहां भी एक द्वितीय भय ऐसा आगे उधर तदेत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अबाह्यम अनंतरम इत्यादि ये भी है कोई एक ही ब्रह्म बाहर भी नहीं भीतर में एक ही है सर्वत्र वही है बाकी तब कोई नहीं न कारण भी नहीं कार्य भी नहीं कुछ भी नहीं ऐसा कहा अन्यत्र भी यही कहा अन्यत्र चाष्य में कहा अन्य उपनिषद में ऐसे कहा है जैसे यहां भी चर्चा बताई ऐसे सर्वत्र अच्छा प्रवेश वाक्याद आत्मा एकत्व तो होता प्रवेश वाक्य के द्वारा आत्मा में एक ही कहा तद अयुतम पूर्वादी शंका करता है आत्मा एक नहीं है तो प्रवेश वाक्य के द्वारा आत्मा को एक बताया प्रकेश प्रवेश वाक्य आत्मा एकत्व उत्तम प्रवेश वाक्य आया है आत्मा एक है कहा तद अयुतम ये ठीक नहीं है क्यों तस्य एवं असंगता प्रवेश करना ही असंगत है आत्मा प्रवेश कैसे करेगा कोई एक ही आत्मा प्रवेश किया इसलिए एक ही आत्मा है कहना चाहते हैं आप किंतु तो प्रवेश ही संभव नहीं है क्यों वो निर्वय है सर्वव्यापक है वो और उससे भिन्न कोई जगह नहीं है भिन्न वस्तु नहीं है किसमें प्रवेश करेगा प्रवेश करने वाले को अपने से भिन्न वस्तु चाहिए और परिचन्न होना चाहिए देवदत्त परिचन्न होता है घर में घुस सकता है किंतु पहले से है कहां घुसेगा वो और अपने से भिन्न में जाना होता है सभी वही है कहां जाएगा आत्मा प्रवेश करने के लिए तो प्रवेश को लेकर के एक कहना चाहते हैं आप आत्मा एक है किंतु प्रवेश ही नहीं बनेगा कहां एकत्व की सिद्धि होगी यही पूर्वादि की शंका है प्रवेश वाक्या आत्मा एकत्व भुगतम प्रवेश वाक्य को लेकर के सभी शरीरों में आत्मा एक है आपने ऐसा कहा किंतु तद अयुक्तम वो ठीक नहीं है क्यों तस्व असंगता असंगतार्थत्व तस्य माने प्रवेश प्रवेश ही संभव नहीं है कहां से फिर आत्मा को एकत्र सिद्ध करोगे आप प्रवेश के बाद यही शंका करता है कहा माने शंका आ जाती है इसमें तो एक सर्वगत सर्वात्मनो बालाग्रमात्म की अप्रवृषम नास्ती आत्मा सर्वगत है और सर्व सर्वरूप है माने भिन्न नहीं है कोई है ही नहीं और खाली भी नहीं है तो कथम सीमान विदार्य प्राप्त था इस मुर्दा को फाड़ करके कैसे प्रवेश करेगा कर सकता है वो तो सर्वत्र है पहले ही है और भिन्न कोई है ही नहीं जिसमें प्रवेश करे तो मुर्दा को भेदन फाड़ करके कैसे प्रवेश करेगा आत्मा असंगत है ये पूर्वाधिक शंका है कैसा कहा जैसे की दृष्टांत का आई वो सुशिरम जैसे का चीटी मानी परिच्छिन्न वस्तु है और सुशिर भिन्न है उससे भिन्न है तो वो जा सकती है तो, तो आत्मा ऐसा नहीं है ना व्यापक है उससे भिन्न वस्तु नहीं है कहां पूछेगा असंभव यही ठीक है कहते अशरीरत्वाद विदार हितृत्व शरीर नहीं है उसका फिर फाड़ेगा कैसे वो ये भी असंभव है फाड़ना भी नहीं बनेगा पहले तो प्रवेश भी नहीं बनता है सर्वत्र होने से और विदारण करना भी संभव नहीं ये तो एतम एवं सीमान विदारी शब्द दिया है ये भी घटता नहीं है फाड़ने के लिए स्वाभाविक वस्तु चाहिए वो तो अशरीर है अशरीर आत्मा अशरीर है न विद्यते शरीरम से अशरीर आत्मा अशरीर है तो कैसे फाड़ेगा वो मुर्दा को प्रवेश अपना प्रवेश करने के लिए तो तुम और सर्वगतत्वात प्रवेश प्रवेश न संगठन ये दो बातें हो नहीं सकती है ये तो फाड़ना भी नहीं बनेगा जो शरीर नहीं उसके पास क्या फाड़ेगा वो और दूसरी बात सर्वगत है प्रवेश भी नहीं बनेगा ये पूर्वादि की शंका आ गई सिद्धांत कहते हैं आपने बहुत छोटी शंका कर दी शंका बहुत है इसमें सिद्धांत सारी शंकाएं उठाएंगे आप आपने तो थोड़ी सी बोला और भी बातें हैं और भी बहुत कुछ असंभव है माने श्रुतार्थ वो लेंगे तो अगर विवक्षितार्थ लेंगे तो वह आत्मा एक ही है श्रुति का तात्पर्य लिखना चाहे तो आत्मा एक ही है अगर जैसे जैसे कहा गया है वैसे देखेंगे तो कई असंभव दिखेगा ये दो ही नहीं इस सिद्धांति कहना चाहते हैं सिद्धांति कहते हैं किम प्रतीयमानार्थ है तुम उत विवक्षितार्थ देखो एक तो प्रतीत जैसे जैसे कहा गया है प्रतीतमान अर्थ है उसमें असंगता है अथवा विवक्षित अर्थ में श्रुति को बोलना क्या इष्ट है उसमें असंगता है कहते हैं प्रतीयमान अर्थ में असंगत है तो इतना ही दो ही अर्थ को लेकर असंगत है और भी बहुत सारे असंगत हैं प्रतीयमान में जैसे जैसे प्रतीति हो रही है मंत्रों को देखते हुए अगर विवक्षित अर्थ को लेंगे तो कोई भी यहां पर विरोध असंभव नहीं है सब संभव है और श्रुति को तात्पर्य केवल आत्मा के ऐक्य बताना तात्पर्य है बाह्य तात्पर्य है विवक्षित अर्थ को लेकर आगे तक बढ़ेंगे पहले प्रतीयमान अर्थ को लेकर के बोलते हो तो और भी बहुत सारे शंका है यही दो ही शंका कैसे आ गई तुम्हारे लिए तो सर्वगत तो होने से प्रवेश कैसे हो गया और शरीर नहीं तो फाड़ा कैसे उसने मुर्गा को कैसे भेदन किया ये दो ही बातें पूछ रहे तुम इतना नहीं और भी है ये कहना चाहते हैं जी कहते हैं कि प्रतीयमान किम असंगत तुम जो विकल्प क्या जैसे प्रतीत हो रहा है उसमें असंगता कहना चाहते हो अथवा विवक्षित अर्थ में कहते हैं आद्य पहले वाला यदि लेना है प्रतीयमान अर्थ में वो तो सर्वस्या में संगता अर्थत्व इतना ही दो ही बात नहीं बहुत कुछ है सभी असंगत है कोई घटने वाला नहीं है यदि जैसे जैसे प्रतीत हो रहा वैसे देखते चले तो सर्वस्या भी अप्रामण विचार सारे मंत्र अप्रामाण्य हो जाएंगे जो जो कहा सब अप्रमाण हो जाएगा प्रतीयमान अर्थ को लेकर के और विवक्षित अर्थ लेंगे तो कोई यहां पर अप्रामाण्य नहीं होगा ये कहना चाहेंगे तो पहले मान अर्थ को लेकर के कई दोष दिखाते हैं सिद्धांत न तो वेद से तदयुक्तम हाँ वेद को ऐसा अप्रामाण्य घोषित करना ठीक नहीं है विवक्षित अर्थ लेना पड़ेगा क्या कहना इष्ट है उसको तात्पर्य किधर है इसका वक्ता का अभिप्राय समझना होगा श्रोता को जैसे जैसे सुना वैसा करें बिगड़ जाएगा अर्थ जैसे संदर्भ में आना ही बोला भोजन के समय में श्रोता ने घोड़ा ला रख दिया बिगड़ जाएगा मामला वक्ता का तात्पर्य वहां नमक में है यात्रा के समय में संयम आने का था नमक ला रख दिया क्या करेगा यात्रा में नमक हो उसको घोड़ा चाहिए सवारी के लिए प्रतियतमान अर्थ तो यही है आपने यही कहा था साइंदो कहा था पहले यात्रा के नमक ऐसा नहीं होगा विवक्षित अर्थ क्या है क्या बोलना चाहता है वक्ता यहां श्रुति है ये कहते हैं न वेद से तद उत्तम वेद को अप्रामाणित करना ठीक नहीं है इसलिए प्रतीयमान अर्थ को त्याग देना होगा विवक्षित अर्थ लेना होगा विवक्षित अर्थ आत्मिकत्व बताने में तात्पर्य है बाकी यहां सृष्टि में तात्पर्य नहीं यही बताएंगे विवक्षित अर्थ बताएंगे किंतु तो प्रतीयमान अर्थ में लेकर के सिद्धांति पूर्वादी के ऊपर और शंका उठा देते हैं सिद्धांति बोलते हैं नानु अति अल्पम एकदम चौथम आपका यह प्रश्न बहुत छोटा है ये दो ही बातें कैसे आपने ऐसा बोल दिया कि व्यापक होने से प्रवेश कैसे करेगा विदारण कैसे करेगा शरीर नहीं तो उसके पास फाड़ने के लिए शरीर चाहिए ना उसके पास शरीर तो ये दो बातें ना नो ये सिद्धांत ज्ञान है नो अति अल्पम निगम चौत्यम ये आपका प्रश्न बहुत छोटा हो गया बहुत अत्र चोदित बहुत है यह शंका करने का विषय है जैसे प्रतीयमान अर्थ को लेकर बहुत शंका है यहां बहुत शंका आ सकती है अकारण असम इक्षिता उसके पास में कोई इंद्रिया आदि कुछ भी नहीं है ईक्षण कैसे किया होगा उसने ये भी एक शंका है आ, आ सकती है उसके आपको सूझा ही नहीं है अकरण कोई कारण नहीं उसके पास में इंद्रिया नहीं है स इक्षत कैसे ईक्षण किया उसने देखा कैसे जगत को रक्षा कैसे बनाया उसने ये भी शंका है जैसे प्रतीयमान अर्थ लेकर कहना तो। उसके बाद अनुपादाय किंचन लोकान अस्थित दूसरी बात कोई साधन लिए बना लोग को बनाना कैसे बनाएगा प्रतिमान अर्थ लेंगे कोई साधन नहीं उसके पास उस काल में और लोग को बना दिया इतने बड़े बड़े लोग बना दिया असंभव लगता नहीं क्या ये भी एक असंभव है और हाँ। पुरुषम समुद्र के अमृत है और जल से एक ऐसा करके एक आकार निकाल करके रख दिया असंभव ये जब विराट पुरुष को बनाया था जल से निकाला है अद्वय जल जल जल आया ऐसा हो जाएगा नहीं हो सकता मैंने प्रतीयमान अर्थ कई असंभव है जिसके श्रुति का तात्पर्य समझना पड़ेगा ये अच्छा और उसको निकाल करके इतना निकाला नहीं हाथ आदि से अमूर्त है पिंड युक्त कर दिया संयोजन कर दिया हाथ पैर आंख मुंह सब बना दिया उसने पानी लिया हाथ में और रह जा ये असंभव नहीं है क्या ये भी असंभव है और तस्य अभिधानात मुखादि निर्धन ऐसे चिंतन कर इसमें मुख निकल जाए निकल गया आंख निकल जाए निकल गया तब तब गोलक निकल गए जैसे सोचा वैसे हो गया हो सकता है हमारे सोच से काम होता है यहाँ नहीं होता वो कैसे हुआ सिद्धांत ही बोल रहे हैं आपने दो ही शंका उठाई प्रत्ययमान अर्थ को लेकर के शंका करना तो बहुत सारी शंका है और मुखादि बस अग्नि रही है और मुख से अग्नि निकला है अग्नि होगा तो मुख जलेगा जलेगा ये शंका क्यों नहीं है आपके ऊपर एक ही है मुखात मुखादिव्य से अग्नियादय और मुखादि से तत्त अधिष्ठापित देवता निकल आए मुख से अग्नि निकला है लोकपाला मुखादि से लोकपाल माने चिंतन से आया सोचा हो गया सोचने से थोड़ी होता प्रतीयमान अर्थ लेंगे तो कई असंभव आते हैं सारे और तेषाम च असना पिपाशा आदि संयोजन और उन लोकपालों को भोग प्यास से लगा देना वो लोकपालों को ये स्थिति और तद आयतन प्रार्थना और वो लोकपालों ने अपने रहने का स्थान मांगना शरीर मांगना ये सब हो सकता है तदर्थम गवादी प्रदर्शन और उनके लिए आयतन के लिए गाय आदि दिखाना ये ले लो ये ले लो घोड़ा लाया गाय लाया मनुष्य शरीर लाया तो चौरासी लादी होने लाया उन्होंने ये करना कुछ है ही नहीं साधन असंभव नहीं है सब और तेषाम यथा आयतन प्रवेश और अपने अपने स्थान पर उनका प्रवेश होना ये भी मुश्किल है कैसे कैसे पहचाना उन्होंने अपना स्थान देवताओं ने अग्नि को ये मुख कैसे देखा आदित्य को चक्षु कैसे देखा ये सब असंभव नहीं है क्या सिद्धांत और श्रेष्ठ से अन्य से पलायन और अन्न को भागना ये एक असंभव नहीं क्या श्रेष्ठा से अन्न से पलायना ये भी एक असंभव बात है जब तो परमात्मा ने अन्न श्रेष्ठ किया तो भागने लग गया आया है मंत्र में हाँ? बाघादिवेश तजिक्र क्या और इंद्रियों द्वारा पकड़ने की इच्छा ग्रहण करने की इच्छा ये भी असंभव है इंद्रिय कहां ग्रहण करेगी उसको प्राण का काम है इंद्रिय ग्रहण करने की इच्छा जिग्र ये सर्वम सीमा विधारण समा विदार में प्रवेश समान ये सब बातें मूर्धा विदार में था असंभव बातें हैं यथा प्रति अर्थ लेने पर तो प्रतीयमान अर्थ लेने पर असंभव है सारे तो आपको दो ही बातों में शंका क्यों आई ये सब बातें क्यों नहीं पूछा आपने सिद्धांत कह रहे हैं तो पूर्वादि कहता है अस्त तरी सर्वम सर्वम एवं इदम अनुभव सब असंभव है हम तो यही मानते थे ये सारे ऐसे लिख दिया है दाम पी करके लिखा होगा सब असंभव है हो नहीं सकता तो सिद्धांत कहते हैं ना ऐसा नहीं है अत्र आत्म अपबोधार्थ मात्र से विवक्षित होता है विवक्षित अर्थ यह है न के न प्रकार वो निर्विशेष आत्मा का ज्ञान कराने में श्रुति का तात्पर्य है श्रुति का तात्पर्य ऐसा होता है ऐसा यही है आत्मा अपबोधार्थ मात्र यही है आत्मा का ज्ञान करवाना किसी प्रकार यही है श्रुति विवक्षित अर्थ यही है श्रुति का यहां सृष्टि आदि बदलाने में विवक्षित नहीं है सर्वो अयम अर्थवाद एक जितने भी कहा लोकादि की सृष्टि जो बताई अर्थवाद वाक्य है उसमें तात्पर्य नहीं है तात्पर्य है आत्मा को बताने में तात्पर्य है आत्मज्ञान कराने में तात्पर्य है जो भी लोकादि की सृष्टि आदि जितने भी कहा सब अर्थवाद है प्रतीयमान अर्थ को लेकर के ना अर्थवाद वाक्य है स्तुति निंदा परक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं अर्थवाद वाक्य सब इस सिद्धांत ने कहा अथवा दूसरी व्याख्या कर देते मायावी विवाह जैसे माया भी कर सकता है जादूगर कुछ भी साधन नहीं लाता है हमारे सामने अकेला आता है तो अपने शरीर से ये रूपांतर बना लेता है दूसरे से वैसे दो जादूगर हो जाते हैं एक धारा में चढ़ करके ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ता है दर्शकों शाम ऐसा दिखाई देता है एक छोटा जादूगर ऐसा कर सकता है ये माया भी तो, तो महामाया भी है वो क्या एक जगत नहीं कर सकता ऐसा जैसे जादूगर बना तो वास्तविक नहीं हो सकती जो बनाता है भूमिस्थ जो जादूगर है वो तो सत्य है व्यावहारिक है क्योंकि तो आकाश में जा रहा है जो जादूगर वो तो कल्पना मात्र है उसकी कल्पना है ऐसा है दर्शकों के सामने बहुत कुछ दिखा देता है एक धागा फेंका ऊपर को और उसमें चढ़ता हुआ ऊपर गया आप जा सकते हैं क्या धागा ऊपर कोई बाधा नहीं है फेंका और उसमें चढ़ता गया थोड़ी देर बाद में ऊपर से हाथ पैर आदि करते हुए गिरने लग गया यहाँ हम्म, लहु लुहान हो गया खूनी खून होने लग गया ऐसा दिखाई देता है दृश्य इधर थोड़ी देर बाद में अपनी माया समेटता है वही है कि जादूगर घूमने में दिखता है बाकी कुछ नहीं आया भी अकेला ही था बाद में अकेला ही ऐसे ही आए तो एक मायावी की दृष्टांत अथवा मायावी होगा माया जादूगर के समान माया महामाया भी देवा ये तो महामाया भी देव है एक छोटा जादूगर भी दर्शकों के सामने कुछ दिखा सकता है कुछ बना सकता है तत्काल के लिए वैसे वो महामाया भी देव है महादेव है वो क्या है ये जगत नहीं बना सकता है दिखाने के लिए खिलौना के लिए सर्वज्ञ है हम्म, ऐसा सर्वशक्ति भी है उसके पास सारी शक्ति उसके पास है सर्वम बेहतर चकार सब कुछ बनाया सुख अवबोध बोधन अर्थ वो आत्मज्ञान के ही कुछ सहारे से ज्ञान हो जाए इसके लिए इस जगत की सृष्टि का कथन किया मैंने श्रोता को को ज्ञान हो सके इसके लिए कहा लोक लोकवत आख्यायिका आदि प्रवंचन जैसे लोग वे कहानी के द्वारा अर्थ ज्ञान करा देते हैं माध्यम बताते हैं तात्पर्य अन्यत्र ले जाते हैं कहानी सुनाते हैं उसी प्रकार कहानी बनाई हम युक्त पक्ष यही पक्ष ठीक होगा ये कहा नई सृष्टि आख्यायिकादि परिज्ञानात किंचित फलम इष्यते सृष्टि आदि के कहानी के ज्ञान से कोई फल मिलने वाला नहीं है फल तो मिलेगा आत्मज्ञान से मोक्ष मिलना आत्मज्ञान से इसमें तात्पर्य नहीं श्रुति का नहीं सृष्टि सृष्टि आख्यायिकादि ज्ञाना परिज्ञात किंचित फलम इष्यते सृष्टि के कहानी के ज्ञान से कोई फल मिलने वाला नहीं ऐक्यात्म स्वरूप परिज्ञाना तो अमृतत्व फलम सर्वोपनिषद प्रसिद्ध जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि जो ऐक्य ज्ञान है इस ज्ञान से क्या होता है अमृतत्व अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है फल होता है ये सार, सारे उपनिषद में प्रसिद्ध यही है प्रसिद्ध है स्मृति सूचक गीता से स्मृति में भी गीता आदि गीता आदि स्मृति में भी ऐसे कहा है समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठंतम परमेश्वरम नयनस्त्या विनश्यत स्विनश्यंतम या पश्य ऐसा कहा है सारे भूतों में एक ही आत्मा है और सारे भूत नाश होने पर जिसका नाश नहीं होता ऐसे आत्मा को जो देखता है वही देखता है सारे भूतों में एक ही आत्मा है और भूत बिना नाश होते जा रहे हैं किंतु वो, उसका नाश नहीं होता विनश्यु अविनश्यंतम आत्मा भूत का नाश होने पर भी नाश नहीं होता ऐसा आत्मा है ये कहा हुआ है इत्यादि कहा इसको फिर करेंगे समय हो चुका है यही रखते हैं फिर करेंगे आगे ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मरेभि वेदस्य मानिष्ठः श्रुतम् नेना प्रभासीरनेनानीतेनाहोरात्मान् सन्ददामि अवतु माम् अवतु अवतु